और तुम उन लोगों को जहां पाओ कत्ल करो और उन्हें उस जगह से निकाल बाहर करो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था और फितना कत्ल से ज्यादा संगीन बुराई है और तुम उनसे मस्जिद हराम के पास उस वक्त तक लड़ाई न करो जब तक वो खुद उसमें तुमसे लड़ाई शुरू न करें हाँ अगर वो तुमसे उसमें लड़ाई शुरू कर दें तो तुम उनको कत्ल कर सकते हो ऐसे काफिरों की सजा यही है